विचार करके कोई घटना वहां से नहीं घटती जैसे नदी बह रही है किनारे जो दरख्त होंगे उनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी उनमें फूल लगेंगे फल आएंगे नदी की धार में जो पड़ जाएंगे उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी बह जाएंगे टूट जाएंगे नदी को ना तो प्रयोजन है कि किसी वृक्ष की जड़ें मजबूत हों और न प्रयोजन है कि कोई वृक्ष उखाड़ दे नदी बह रही नदी एक शक्ति है नदी एक व्यक्ति नहीं है लेकिन निरंतर ये भूल हुई कि हमने परमात्मा को एक व्यक्ति समझ रखा है इसलिए हम सोचते हैं जैसे हम व्यक्ति के संबंध में सोचते हैं हम कहते हैं वो बड़ा दयालु है हम कहते हैं वो बड़ा कृपालु है हम कहते हैं वो सदा कल्याण ही करता है ये हमारी आकांक्षाएं हैं जो हम उस पर थोप रहे हैं व्यक्ति पे तो ये आकांक्षाएं थोपी जा सकती और अगर वो इनको पूरा न करे तो उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता शक्ति पे ये आकांक्षाएं नहीं थोपी जा सकती और शक्ति के साथ जब भी हम व्यक्ति मान के व्यवहार करते हैं तब हम बड़े नुकसान में पड़ते हैं क्योंकि हम बड़े सपनों में खो जाते हैं शक्ति के साथ शक्तिमान के व्यवहार करेंगे तो बहुत दूसरे परिणाम होंगे जैसे कि जमीन में ग्रेविटेशन है कशिश गुरुत्वाकर्षण है आप जमीन पे चलते हैं तो उसी की वजह से चलते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं है कि आप चल सकें आप ना चलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा इस भूल में मत पड़ जाना आप नहीं थे जमीन पे तो भी था एक दिन हम नहीं भी होंगे तो भी होगा और अगर आप गलत ढंग से चलेंगे तो गिर पड़ेंगे टांग भी टूट जाएगी वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होगा लेकिन आप किसी अदालत में मुकदमा न चला सकेंगे क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं है गुरुत्वाकर्षण एक शक्ति की धारा है अगर उसके साथ व्यवहार करना है तो आपको सोच समझ के करना होगा वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं कर रही है परमात्मा की शक्ति आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं करती परमात्मा की शक्ति कहना ठीक नहीं है परमात्मा शक्ति ही है वो आपके साथ सोच समझ के व्यवहार नहीं है उसका उसका अपना शाश्वत नियम है उस शाश्वत नियम का नाम ही धर्म है धर्म का अर्थ है उस परमात्मा नाम की शक्ति के व्यवहार का नियम अगर आप उसके अनुकूल करते हैं समझ पूर्वक करते हैं विवेकपूर्वक करते हैं तो वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाएगी उसकी तरफ से नहीं आपके ही कारण अगर आप उल्टा करते हैं नियम के प्रतिकूल करते हैं तो वो शक्ति आपके लिए अकृपा बन जाएगी परमात्मा अकृपा नहीं है आपके ही कारण तो परमात्मा को व्यक्ति मानेंगे तो भूल होगी परमात्मा व्यक्ति नहीं है शक्ति है और इसलिए परमात्मा के साथ न प्रार्थना का कोई अर्थ है न पूजा का कोई अर्थ है परमात्मा के साथ अपेक्षाओं का कोई भी अर्थ नहीं यदि चाहते हैं कि परमात्मा वो शक्ति आपके लिए कृपा बन जाए तो आपको जो भी करना है वो अपने साथ करना है इसलिए साधना का अर्थ है प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं ध्यान का अर्थ है पूजा का कोई अर्थ नहीं इस फर्क को ठीक से समझ लें प्रार्थना में आप परमात्मा के साथ कुछ कर रहे हैं अपेक्षा आग्रह निवेदन मांग ध्यान में आप अपने साथ कुछ कर रहे हैं पूजा में आप परमात्मा से कुछ कर रहे हैं साधना में आप अपने से कुछ कर रहे हैं साधना का अर्थ है अपने को ऐसा बना लेना कि धर्म के प्रतिकूल आप न रह जाएं और जब नदी की धारा बहे तो आप बीच में न पड़ जाएं तट पे हों कि नदी की धारा का पानी आपकी जड़ों को मजबूत कर जाए उखाड़ ना जाए जैसे ही हम परमात्मा को शक्ति के रूप में समझेंगे हमारे धर्म की पूरी व्यवस्था बदल जाती तो जो मैंने कहा कि यदि आकस्मिक घटना घट गट जाए तो दुर्घटना बन सकती है दूसरी बात पूछी है कि क्या अपात्र को भी वो घटना घट गट सकती है न अपात्र को कभी नहीं घटती घटती तो है पात्र को ही लेकिन अपात्र कभी आकस्मिक रूप से पात्र बन जाता है जिसका उसे खुद भी पता नहीं चलता घटना तो सदा ही पात्र को घटती है जैसे प्रकाश आंख को ही दिखाई पड़ता आंख वाले को ही दिखाई पड़ता अंधे को नहीं दिखाई पड़ता न दिखाई पड़ सकता है लेकिन अगर अंधे की आंख का इलाज किया गया हो और वो आज ही अस्पताल से बाहर निकल के सूरज को देख ले तो दुर्घटना घट जाएगी उसे महीने दो महीने हरा चश्मा लगा के प्रतीक्षा करनी चाहिए अपात्र एकदम से पात्र बन जाए तो दुर्घटना ही घटेगी इसमें सूरज कसूरवार नहीं होगा उसको दो महीने आंखों को सूर्य के प्रकाश के झेलने की क्षमता भी विकसित करने देनी चाहिए नहीं तो वो पहले जितना अंधा था उससे भी ज्यादा खतरनाक अंधा हो जाएगा क्योंकि पहले वाले अंधेपन का इलाज भी हो सकता था अब इलाज भी मुश्किल होगा क्योंकि ये दोबारा अंधा हुआ है तो इसको ठीक से समझ लेना पात्र को ही अनुभूति आती है लेकिन अपात्र कभी शीघ्रता से पात्र बन सकता है कभी ऐसे कारणों से पात्र बन सकता है जिसका उसे पता भी ना चले और तब तब दुर्घटना के सदा डर है क्योंकि शक्ति अनायास उतर आए तो आप झेलने की स्थिति में नहीं होते ऐसा समझ लें एक आदमी को अनायास कुछ भी मिल जाए धन मिल जाए तो धन के मिलने से दुर्घटना नहीं होनी चाहिए लेकिन अनायास मिलने से दुर्घटना हो जाएगी अनायास बहुत बड़ा सुख भी मिल जाए तो भी दुर्घटना हो जाएगी क्योंकि उस सुख को भी झेलने के लिए क्षमता चाहिए सुख भी धीरे धीरे ही मिले तो हम तैयार हो पाते हैं आनंद भी धीरे धीरे ही मिले तो हम तैयार हो पाते क्योंकि तैयारी बहुत सी बातों पर निर्भर है और हमारे भीतर झेलने की क्षमता भी बहुत सी बातों पर निर्भर है हमारे मस्तिष्क के स्नायु हमारे शरीर की क्षमता हमारे मन की क्षमता सबकी सीमा है और जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो असीम है वो ऐसा ही है जैसे बूम के ऊपर सागर गिर जाए तो बूंद के पास कुछ पात्र चा, पात्रता चाहिए सागर को पी जाने की नहीं तो अनायास तो सिर्फ बूंद मरेगी ही मिटेगी ही पा नहीं सकेगी कुछ इसलिए अगर इसे ठीक से समझें तो साधना में दोहरा काम है उस शक्ति के मार्ग पर अपने को लाना है उसके अनुकूल लाना है और अनुकूल लाने के पहले अपने को सहने की क्षमता भी बढ़ानी ये दोहरे काम साधना के हैं एक तरफ से द्वार खोलना है आंख ठीक करनी है और दूसरी तरफ से आंख ठीक हो जाए तो भी प्रतीक्षा करनी है और आंख को भी इस योग बनाना है कि वो प्रकाश को देख सके अन्यथा बहुत प्रकाश अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरा सिद्ध होता है इसमें प्रकाश का कोई भी कसूर नहीं है इसमें प्रकाश का कोई लेना देना नहीं ये बिल्कुल एक तरफा मामला है हमारे ऊपर ही निर्भर है इसमें हम जिम्मेदारी कभी दूसरे पर ना दे पाएंगे अब जैसे आदमी के तो जन्मों जन्मों की यात्रा है उस जन्मों जन्मों की यात्रा में उसने बहुत कुछ किया है और कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल पात्र होने के इंच भर पहले छूट गया वो पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां उसकी खो गईं उसे कुछ पता नहीं है यदि आप पिछले जन्म में किसी साधना में लगे थे और निन्यानबे डिग्री तक पहुंच गए थे सौवीं डिग्री तक नहीं पहुंचे थे अब वो साधना भूल गई वो जीवन भूल गया वो सारी बात भूल गई लेकिन निन्यानबे डिग्री तक की जो आपकी स्थिति थी वो आपके साथ है एक दूसरा आदमी आपके पास में बैठा हुआ है वो एक ही डिग्री पर रुक गया है आ, उसको भी कोई पता नहीं आप दोनों एक ही दिन ध्यान करने बैठे तो भी आप दोनों अलग अलग तरह के आदमी हैं उसकी एक डिग्री बढ़ेगी तो अभी कोई घटना घटने वाली नहीं है वो दो ही डिग्री पे पहुंचेगा आपकी एक डिग्री बढ़ेगी तो घटना घट गट जाने वाली है ये आकस्मिक ही होगी आपके लिए घटना क्योंकि आपको कोई अंदाज भी नहीं है कि निन्यानबे डिग्री पे आप थे आप कहां हैं इसका अंदाज नहीं और इसलिए एकदम से पहाड़ टूट पड़ सकता है उसकी तैयारी चाहिए और जब मैं कहता हूं दुर्घटना तो मेरा मतलब इतना ही है कि जिसकी हमारे लिए तैयारी नहीं थी अनिवार्य रूप से दुर्घटना का मतलब दुख नहीं होता है दुर्घटना का इतने मतलब होता है कि जिसके घटने के लिए हम अभी तैयार न थे दुर्घटना का मतलब अनिवार्य रूप से बुरा नहीं होता अब एक आदमी को एक लाख रुपए की लॉटरी मिल गई हो तो कुछ बुरा नहीं हो गया है लेकिन मृत्यु घटित हो जाएगी वो मर सकता है एक लाख ये उसके हृदय की गति को बंद कर जा सकते हैं दुर्घटना का मतलब इतना है कि जिस घटना के हम अभी तैयार न थे और इससे उल्टा भी हो सकता है अगर कोई आदमी तैयार हो और उसकी मृत्यु आ जाए तो जरूरी नहीं कि मृत्यु दुर्घटना ही हो अगर कोई आदमी तैयार हो सुखराज जैसी हालत में हो तो वो मृत्यु को भी आलिंगन करके स्वागत कर लेगा और उसके लिए मृत्यु तत्काल समाधि बन जाएगी दुर्घटना नहीं क्योंकि उस मरते क्षण को वो इतने प्रेम और आनंद से स्वीकार करेगा कि वो उस तत्व को भी देख लेगा जो नहीं मरता है हम तो मरने को इतनी घबराहट से स्वीकार करते हैं कि मरने के पहले बेहोश हो जाते मरने की प्रक्रिया हम होश पूर्वक नहीं अनुभव कर पाते मरने के पहले बेहोश हो जाते इसलिए हम बहुत बार मरे हैं लेकिन मरने की प्रक्रिया का हमें कोई पता नहीं एक बार भी हमें पता चल जाए कि मरना क्या है तो फिर हमें कभी भी ये ख्याल नहीं उठेगा कि मैं और मर सकता हूं क्योंकि मौत की घटना घट गट जाएगी और आप पार खड़े रह जाएंगे लेकिन ये होश में होना चाहिए तो मृत्यु भी किसी के लिए सौभाग्य हो सकती और प्रसाद ग्रेस भी किसी के लिए दुर्भाग्य हो सकती इसलिए साधना दोहरी है पुकारना है बुलाना है खोजना है जाना है और साथ साथ तैयार भी होते चलना है कि जब आ जाए द्वार पर प्रकाश तो ऐसा न हो कि प्रकाश भी हमें अंधेरा ही सिद्ध हो और अंधा कर जाए इसमें एक बात अगर ख्याल रखेंगे जो मैंने पहले कही तो अड़चन न होगी अगर परमात्मा को व्यक्ति मान लेंगे तो फिर बहुत अड़चन हो जाती अगर शक्ति मानेंगे तब कोई अड़चन नहीं व्यक्ति मान के बहुत कठिनाई हो गई और हमारी हमारे मन की इच्छा ऐसी होती है कि व्यक्ति हो क्योंकि व्यक्ति बना के हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं फिर जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं रह जाती उसकी भी कुछ हो जाती और हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए उसको उत्तरदायी बनाते हैं बड़ी चीजों की तो बात अलग एक आदमी को नौकरी मिल जाए तो परमात्मा को धन्यवाद देता है नौकरी छूट जाए तो परमात्मा पर नाराज होता है किसी को फोड़ा फुंसी हो जाए तो परमात्मा पर कहता है उसने कर दिया किसी का फोड़ा फुंसी ठीक हो जाए तो वो कहता भगवान की कृपा से ठीक हो रहा लेकिन हम कभी ख्याल नहीं करते कि हम कैसे काम भगवान से ले रहे हैं और कभी ये ख्याल नहीं करते कि बड़ी इगोसेंट्रिक धारणा है कि मेरे फोड़े फिंसी की फिक्र भी भगवान कर रहा है कि हमारा एक रुपया गिर गया और सड़क पर लौट के मिल गया तो हम कहते हैं भगवान की कृपा से मेरे एक रुपए का भी हिसाब किताब जो है वो भगवान रख रहा है ये सोच के भी मन को बड़ी तृप्ति मिलती है क्योंकि मैं तब इस सारे जगत के केंद्र पर खड़ा हो गया और परमात्मा से भी मैं जो एक व्यवहार कर रहा हूं वो एक नौकर का व्यवहार है उससे भी हम एक पुलिस वाले का उपयोग ले रहे कि वो तैयार खड़ा है हमारे रुपये को बचा रहा है व्यक्ति बनाने से ये सुविधा है कि जिम्मेदारी उस पर टाल सकते हैं लेकिन साधक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है असल में साधक होने का एक ही अर्थ है कि अब इस जगत में वो किसी बात के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने नहीं जाएगा अब दुख है तो अपना है सुख है तो अपना है शांति है तो अपनी है अशांति है तो अपनी है कोई उत्तरदायी नहीं कोई रिस्पांसिबल नहीं मैं ही उत्तरदायी हूं अगर टांग टूट जाती है गिर के तो ग्रेविटेशन जिम्मेदार नहीं मैं ही जिम्मेवार ऐसी मनोदशा हो तो फिर बात समझ में आ जाएगी और तब तब दुर्घटना का अर्थ और होगा और इसलिए मैंने कहा कि प्रसाद भी तैयार व्यक्तित्व को उपलब्ध होता है तो कल्याणकारी मंगलदायी हो जाता है असल में हर चीज की एक घड़ी है हर चीज का एक ठीक क्षण है और ठीक क्षण और ठीक घड़ी को चूक जाना बड़ी दुर्घटना है ये हो सकता है परावलंबन अगर कोई गुरु बनने को उत्सुक हो कोई बनाने को उत्सुक हो तो ये परावलंबन हो जाएगा इसलिए भूल के भी शिष्य मत बनना और भूल के भी गुरु मत बनना ये परावलंबन हो जाएगा लेकिन यदि शिष्य और गुरु बनने का कोई सवाल नहीं है तब कोई परावलंबन नहीं है तब जिससे आप सहायता ले रहे हैं वो अपना ही आगे गया रूप है अपना ही आगे गया रूप है कौन बने गुरु कौन बने शिष्य मैं निरंतर कहता रहा हूं कि बुद्ध ने अपने पिछले जन्मों के स्मरण में एक बात कही कहा है कि मैं तब अज्ञानी था और एक बुद्ध पुरुष परमात्मा को उपलब्ध हो गए थे तो मैं उनके दर्शन करने गया था बुद्ध पिछले जन्म में जब वो बुद्ध नहीं हुए थे किसी बुद्ध पुरुष के दर्शन करने गए थे झुक के उन्होंने प्रणाम किया था और वो प्रणाम करके खड़े भी नहीं हो पाए थे कि बहुत मुश्किल में पड़ गए क्योंकि वो बुद्ध पुरुष उनके चरणों में झुके और उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं मैं आपके पैर छू ये ठीक आप मेरे पैर छूते हैं तो उन्होंने कहा था कि तू मेरे पैर छुए और मैं तेरे पैर न छू तो बड़ी गलती हो जाएगी गलती इसलिए हो जाएगी कि मैं तेरा ही दो कदम आगे गया एक रूप और जब मैं तेरे पैर में झुक रहा हूं तो तुझे याद दिला रहा हूं कि तूने पैर मेरे झुका वो ठीक किया लेकिन इस भूल में मत पड़ जाना कि तू अलग और मैं अलग और इस भूल में मत पड़ जाना कि तू अज्ञानी और मैं ज्ञानी घड़ी भर की बात है कि तू भी ज्ञानी हो जाएगा यानी ऐसे ही कि जब मेरा दाया पैर आगे जाता है तो बाया पीछे छूट जाता है असल में दाया आगे जाए इसके लिए भी बाएं को पीछे थोड़ी देर छूटना पड़ता है गुरु और शिष्य का संबंध घातक है गुरु और शिष्य का असंबंधित रूप बड़ा सार्थक है असंबंधित रूप का मतलब ही ये होता है कि जहां अब दो नहीं है जहां दो हैं वहीं संबंध हो सकता है तो ये तो समझ में भी आ सकता है कि शिष्य को ये ख्याल हो कि गुरु है क्योंकि शिष्य अज्ञानी है लेकिन जब गुरु को भी ये ख्याल होता है कि गुरु है तब फिर हद हो जाती तब उसका मतलब हुआ कि अंधा अंधे को मार्गदर्शन कर रहा है और इसमें आगे जाने वाला अंधा ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक दूसरे अंधे को यह भरोसा दिलवा रहा है कि बेफिक्र रहो गुरु और शिष्य के संबंध का कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं है असल में इस जगत में हमारे सारे संबंध शक्ति के संबंध हैं पावर पॉलिटिक्स के संबंध हैं कोई बाप है कोई बेटा है बाप और बेटा अगर प्रेम का संबंध हो तो बात और होगी तब बाप को बाप होने का पता नहीं होगा बेटे को बेटे होने का पता नहीं होगा तब बेटा बाप का ही बाद में आया हुआ रूप होगा और बाप बेटे का पहले आ गया रूप होगा स्वभावता बात भी यही है एक बीज हमने बोया है और वृक्ष आया और फिर उस वृक्ष में हजार बीज लग गए वो पहला बीज और इन बीजों के बीच क्या संबंध है वो पहले आ गए थे ये पीछे आए हैं उसी की यात्रा है उसी बीज की यात्रा जो वृक्ष के नीचे टूट के बिखर गया है बाप पहली कड़ी थी ये दूसरी कड़ी है उसी श्रृंखला में लेकिन तब श्रृंखला है और दो व्यक्ति नहीं है तब अगर बेटा अपने बाप के पैर दबा रहा है तो सिर्फ बीती हुई कड़ी को स्वभाव था बीती हुई कड़ी को वो सम्मान दे रहा है बीती हुई कड़ी की सेवा कर रहा है जो जा रहा है उसको वो आदर दे रहा है क्योंकि उसके बिना वो आ भी नहीं सकता था वो उससे आया है और अगर बाप अपने बेटे को बड़ा कर रहा है पाल रहा है पोस रहा है भोजन कपड़े की चिंता कर रहा है तो ये किसी दूसरे की चिंता नहीं है वो अपने ही एक रूप को संभाल रहा है और अपने जाने के पहले उसे अगर इसे हम ऐसा कहें कि बाप अपने बेटे में फिर से जवान हो रहा है तो कठिनाई नहीं है तब संबंध की बात नहीं है तब एक और बात है तब एक प्रेम है जहां संबंध नहीं है लेकिन आम तौर से जो बाप और बेटे के बीच संबंध है वो राजनीति का संबंध है बाप ताकतवर है बेटा कमजोर है बाप बेटे को दबा रहा है बाप बेटे को कह रहा है कि तू अभी कुछ भी नहीं मैं सब कुछ हूं तो उसे पता नहीं कि आज नहीं कल बेटा ताकतवर हो जाएगा बाप कमजोर हो जाएगा और तब बेटा उसे दबाना शुरू करेगा कि मैं सब कुछ हूं और तू कुछ भी नहीं है तो ये जो गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है पति और पत्नी के बीच जो संबंध है ये सब परवर्सन से विकृतियां हैं नहीं तो पति और पत्नी के बीच संबंध की क्या बात है दो व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है कि वो एक एक है इसलिए वो साथ है लेकिन नहीं ऐसा मामला नहीं पति पत्नी को दबा रहा है अपने ढंगों से पति पत्नी पति को दबा रही है अपने ढंगों से और वो एक दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी ताकत और पावर पॉलिटिक्स का पूरा प्रयोग कर रहे हैं गुरु शिष्य घूम के फिर ऐसी कैसी बात है गुरु शिष्य को दबा रहा है और शिष्य गुरु के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब गुरु बन जाए या अगर गुरु ज्यादा देर टिक जाए तो बगावत शुरू हो जाएगी इसलिए ऐसा गुरु खोजना बहुत मुश्किल है जिसके शिष्य उससे बगावत न करते हो ऐसा गुरु खोजना मुश्किल है जिसके शिष्य उसके दुश्मन ना हो जाते हो जो भी चीफ डिसाइपल है वो दुश्मन होने वाला है तो चीफ डिसाइपल जरा सोच के बनाना चाहिए कहीं भी वो अनिवार्य है क्योंकि वो जो शक्ति का दबाव है उसकी बगावत रिबेलियन भी होता है अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं तो मेरी समझ में आता है कि बाप बेटे को दबाए क्योंकि दो अज्ञानियों की बात है माफ की जा सकती है अच्छी तो नहीं है सही जा सकती है पति पत्नी को दबाए पत्नी पति को दबाए चल सकता है शुभ तो नहीं है चलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी छोड़ा जा सकता है लेकिन गुरु शिष्य को भी दबा रहा है तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कम से कम ये तो जगह ऐसी है जहां कोई दावेदार नहीं होना चाहिए कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध है दावेदार है एक वो कहता मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते तुम अज्ञानी हो और मैं ज्ञानी हूं इसलिए अज्ञानी को ज्ञानी के चरणों में झुकना चाहिए मगर हमें ये पता ही नहीं है कि कैसा ज्ञानी है जो किसी से कह रहा है कि चरणों में झुकना चाहिए ये महाज्ञानी हो गए हाँ इसे कुछ थोड़ी बातें पता चल गई हैं शायद उसने कुछ किताबें पढ़ ली हैं शायद परंपरा से कुछ सूत्र उसको उपलब्ध हो गए हैं वो उनको दोहराना जान गया है इससे ज्यादा कुछ और मामला नहीं शायद तुमने कहानी ना सुनी हो मैंने सुना है कि एक बिल्ली थी जो सर्वज्ञ हो गई थी बिल्लियों में उसकी बड़ी ख्याति हो गई क्योंकि वो तीर्थंकर की हैसियत पा गई थी और उसके सर्वज्ञ होने का आल नोइंग होने का कारण यह था कि वो एक पुस्तकालय में प्रवेश कर जाती थी और उस पुस्तकालय के बाबत सभी कुछ जानती थी सभी कुछ का मतलब कहां से प्रवेश करना कहां से निकलना किस किताब की आड़ में बैठने से ज्यादा आराम होता है और कौन सी किताब ठंड में भी गर्मी देती है तो बिल्लियों में यह खबर हो गई थी कि अगर पुस्तकालय के संबंध में कुछ भी जानना हो तो वो बिल्ली आल नोइंग वो सर्वज्ञ और निश्चित ही जो बिल्ली पुस्तकालय के बाबत सब जानती जो भी पुस्तकालय में सब जानती उसके ज्ञानी होने में क्या कमी थी उस बिल्ली को शिष्य भी मिल गए थे लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं था किताब का पता उसे इतना ही था कि उसके आड़ में बैठ के छिपने की सुविधा है उस किताब के बाबत उसे इतना ही पता था कि उसकी जिद जो है वो ऊनी कपड़े की है उसमें ठंड में भी गर्मी मिलती यही जानकारी थी उसकी किताब के बाबत तो, और उससे कुछ भी पता नहीं था कि भीतर क्या है और भीतर का बिल्ली को पता हो भी कैसे सकता था आदमियों में भी ऐसी अनोइंग बिल्लियां हैं जिनको किताबों की आड़ में छिपने का पता है जिन पर आप हमला करो तो फौरन रामायण बीच में कर लेंगे और कहेंगे रामायण में ऐसा लिखा है और आपकी गर्दन को रामायण से दबा देंगे गीता में ऐसा लिखा है अब गीता से कौन झगड़ा करेगा अगर मैं सीधा कहूं कि मैं ऐसा कहता हूं तो मुझसे झगड़ा हो सकता है लेकिन मैं कहता हूं गीता ऐसी कहती मैं गीता को बीच में ले लेता हूं गीता की आड़ में मुझे सुरक्षा है गीता गर्मी भी देती है ठंड में व्यवसाय भी देती है दुश्मन से बचाव के लिए शस्त्र भी बन जाती है आभूषण भी बन जाती है और गीता के साथ खेल खेला जा सकता लेकिन गीता में जो है ऐसे आदमी को उतना ही पता है जितना कि उस बिल्ली को जो पुस्तकालय में आराम करती थी उससे भिन्न कुछ पता नहीं और ये तो हो सकता है कि उस पुस्तकालय में रहते रहते बिल्ली किसी दिन जान जाए कि किताब में क्या है लेकिन ये किताब जानने वाले गुरु बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे क्योंकि जितनी इनको किताब कंठस्थ हो जाएगी उतना ही इनको जानने की कोई जरूरत न रह जाएगी इनको भ्रम पैदा होगा कि हमने जान लिया है जब भी कोई आदमी दावा करे कि जान लिया है तब समझना कि अज्ञान मुखर हो गया है दावेदार अज्ञान है लेकिन जब कोई आदमी जानने के दावे से भी झिझक जाए तब समझना कि कहीं कोई झलक को किरण मिलनी शुरू हुई लेकिन ऐसा आदमी गुरु न बन सकेगा ऐसा आदमी गुरु बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता क्योंकि गुरु के साथ अथॉरिटी है गुरु के साथ दावा जरूरी है गुरु का मतलब ही है कि मैं जानता हूं पक्का जानता हूं तुम्हें मैं अब जानने की कोई जरूरत नहीं मुझसे जान लो तो जहां अथॉरिटी है जहां आपतता है और जहां दावा है कि मैं जानता हूं वहां दूसरे की अन्वेषण और खोज की वृत्ति की हत्या भी है क्योंकि अथॉरिटी बिना हत्या किए नहीं रह सकती दावेदार दूसरे की गर्दन काटे बिना नहीं रह सकता क्योंकि ये भी डर है कि कहीं तुम पता न लगा लो अन्यथा मेरे अधिकार का क्या होगा मेरी अथॉरिटी का क्या होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा अनुयायी बनाऊंगा शिष्य बनाऊंगा शिष्यों में भी हायर की बनाई जाएगी कौन प्रधान है कौन कम प्रधान है और और सब वही जाल खड़ा हो जाएगा जो राजनीति का जाल है जिससे अध्यात्म का कोई भी संबंध नहीं तो जब मैं कहता हूं कि शक्तिपात जैसी घटना परमात्मा के प्रकाश और, और उसकी विद्युत को ऊर्जा को उपलब्ध करने की घटना किन्हीं व्यक्तियों के करीब सुगमता से घट सकती है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन व्यक्तियों को पकड़ कर रुक जाना न ये कह रहा हूं कि तुम परतंत्र हो जाना न ये कह रहा हूं कि तुम उन्हें गुरु बना लेना न ये कह रहा हूं कि तुम अपनी खोज बंद कर देना बल्कि सच तो यह है कि जब भी तुम्हें किसी व्यक्ति के करीब वो घटना घटेगी तो तुम्हें तत्काल ऐसा लगेगा कि जब दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आके भी इस घटना ने इतना आनंद दिया है तो जब सीधी अपने माध्यम से आती होगी तो तो बात ही और हो जाएगी आखिर दूसरे से आकर थोड़ी तो जूठी हो ही जाती है थोड़ी तो बासी हो ही जाती है मैं बगीचे में गया और वहां की फूलों की सुगंध से भर गया और फिर तुम मेरे पास आए और मेरे पास से तुम्हें फूलों की सुगंध आई लेकिन मेरी पसीने की बदबू भी उसमें थोड़ी मिल ही जाएगी और तब तक फीकी भी बहुत हो जाएगी तो जब मैं कह रहा हूं कि ये प्राथमिक रूप से बड़ी उपयोगी है कि तुम्हें खबर तो लग जाए कि बगीचा भी है फूल भी है तब तुम अपनी यात्रा पे जा सकोगे अगर गुरु बनाओगे तो रुकोगे मील के पत्थरों के पास हम रुकते नहीं हालांकि मील के पत्थर जिनको हम गुरु कहते हैं उनसे बहुत ज्यादा बताते हैं पक्की खबर देते हैं कितने मील चल चुके हो कितने मील मंजिल की यात्रा बाकी अभी कोई गुरु इतनी पक्की खबर नहीं देता लेकिन फिर भी मील के पत्थर की ना हम पूजा करते हैं ना उसके पास बैठ जाते हैं और अगर मील के पत्थर के पास हम बैठ जाएंगे तो हम पत्थर से बदतर सिद्ध होंगे क्योंकि वो पत्थर सिर्फ बताने को था कि आगे वो रोकने वाला नहीं है ना रोकने वाले का कोई अर्थ लेकिन अगर पत्थर बोल सकता होता तो वो कहता कहां जा रहे हो मैंने तुम्हें इतना बताया और तुम मुझे छोड़ के जा रहे बैठो तुम मेरे शिष्य हो गए क्योंकि मैं तुम्हें बताया कि दस मील चल चुके और बीस मील अभी बाकी अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं मेरे पीछे रहो तो पत्थर बोल नहीं सकता इसलिए गुरु नहीं बनता है आदमी बोल सकता है इसलिए गुरु बन जाता है क्योंकि वो कहता है मेरे प्रति कृतज्ञ रहो अनुग्रहित रहो ग्रेटिट्यूड प्रकट करो मैंने तुम्हें इतना बताया और ध्यान रहे जो ऐसा आग्रह करता हो अनुग्रह मांगता हो समझना कि उसके पास बताने को कुछ भी ना था कोई सूचना थी जैसे मील के पत्थर के पास सूचना है उसे कुछ पता थोड़ी कि कितनी मंजिल है और कितनी नहीं है उसे कुछ पता नहीं है सिर्फ एक सूचना उसके ऊपर खुदी है वो उस सूचना को दोहराए चला जा रहा है कोई भी निकलता उसी को दोहराए चले जा रहा है ऐसे ही अनुग्रह जब तुमसे मांगा जाए तो सावधान हो जाना और व्यक्तियों के पास नहीं रुकना है जाना तो है अव्यक्ति के पास जाना तो है उसके पास जहां कोई आकार और सीमा नहीं लेकिन व्यक्तियों से भी उसकी झलक मिल सकती है क्योंकि अंधता व्यक्ति है तो उसी के जैसा मैंने कल कहा कि कुएं से भी सागर का पता चलता है ऐसे ही किसी व्यक्ति से भी उस अनंत का पता चलता है अगर तुम झांक सको तो तुम्हें पता चल सकता है लेकिन कहीं निर्भर नहीं होना है और किसी चीज को परतंत्रता नहीं बना लेना है लेकिन सभी तरह के संबंध परतंत्रता बनते हैं चाहे वो पति पत्नी का हो चाहे बाप बेटे को हो चाहे गुरु शिष्य का हो जहां संबंध है वहां परतंत्रता शुरू हो जाएगी तो आध्यात्मिक खोजी को संबंध ही नहीं बनाने हैं पति पत्नी के बनाए रखे तो कोई बहुत हर्जा नहीं है क्योंकि उनसे कोई बाधा नहीं वो इरेलीवेंट है लेकिन मजा ये है कि वो पति पत्नी के बाप बेटे के संबंध तोड़ के एक नया संबंध बनाता है जो बहुत खतरनाक है वो गुरु शिष्य का संबंध बनाता है आध्यात्मिक संबंध का कोई मतलब ही नहीं होता सब संबंध सांसारिक है संबंध मात्र सांसारिक है अगर हम ऐसा कहें कि संबंध ही संसार है तो कोई कठिनाई नहीं होगी असंग अकेले हो तुम लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अहंकार क्योंकि तुम ही अकेले हो ऐसा नहीं हो और भी अकेले हैं और तुमसे कोई दो कदम आगे है उसके अगर तुम्हें पैरों की ध्वनि भी मिल जाती है कि कोई दो कदम आगे है तो दो कदम आगे का रास्ते की भी खबर मिल जाती है कोई तुमसे दो कदम पीछे है कोई तुम्हारे साथ है कोई दूर है ये सब चारों तरफ हजार हजार अनंत अनंत आत्माएं यात्रा कर रही इस यात्रा में सब संगी साथी हैं फासला आगे पीछे का है इससे जितना फायदा ले सको वो लेना लेकिन इसको गुलामी मत बनाना ये गुलामी संबंध बनाने से शुरू हो जाती है इसलिए परतंत्रता से बचना संबंध से बचना आध्यात्मिक संबंध से सदा बचना सांसारिक संबंध उतना खतरनाक नहीं क्योंकि संसार का मतलब ही संबंध है वहां कोई इतनी अड़चन की बात नहीं और जहां से तुम्हें खबर मिले वहां से खबर ले लेना और ये नहीं कह रहा हूं मैं कि तुम धन्यवाद मत देना ये नहीं कह रहा हूं इसलिए कठिनाई होती इसलिए जटिलता हो जाती कोई अनुग्रह मांगे ये गलत है लेकिन तुम धन्यवाद ना दो तो उतना ही गलत है मील के पत्थर को भी धन्यवाद तो दे देना चाहते वक्त कि तेरी बड़ी कृपा वो सुने या ना सुने तो इससे बड़ी भ्रांति होती है जब जब जब हम कहते हैं कि गुरु अनुग्रह न मांगे तो आमतौर से आदमी के अहंकार को एक रस मिलता है वो सोचता बिल्कुल ठीक है किसी को धन्यवाद भी देने की जरूरत नहीं तब भूल हो रही है बिल्कुल दूसरे पहलू से बात को पकड़ा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम धन्यवाद मत दे देना ये मैं ये कह रहा हूं कि कोई अनुग्रह मांगे ये गलत है लेकिन तुम अनुग्रहित ना हो तो उतना ही गलत हो जाए तुम तो अनुग्रहित होना ही लेकिन वो अनुग्रह बांधेगा नहीं क्योंकि जो मांगा नहीं जाता वो कभी नहीं बांधता है जो दान है वो कभी नहीं बांधता है अगर मैंने तुम्हें धन्यवाद दिया है तो वो कभी नहीं बांधता और अगर तुमने मांगा है मैं दूं या ना दूं उपद्रव शुरू हो जाता है और जहां से तुम्हें झलक मिले उसकी वहां से झलक को ले लेना और वो झलक चूंकि दूसरे से आई है इसलिए बहुत स्थायी नहीं होगी वो खोएगी बार बार स्थायी तो वही होगी जो तुम्हारी है इसलिए उसे तुम्हें बार बार बार बार लेना पड़ेगा और अगर डरते हो परतनता से तो अपनी खोजना परतनता से डरने से कुछ भी ना होगा दूसरे पर निर्भर होने का भय भी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तुम पर परतंत हो जाऊं तो भी संबंधित हो गया और तुमसे डर के भाग जाऊं तो भी संबंधित हो गया और परतंत्र हो गया इसलिए चुपचाप लेना धन्यवाद देना बढ़ जाना और अगर लगे कि कुछ है जो आता है और खो जाता है तो फिर अपना स्रोत खोजना जहां से वो कभी ना खोए जहां से खोने का को कोई उपाय न रह जाए अपनी संपदा ही अनंत हो सकती है दूसरे से मिला हुआ दान चुक ही जाता है भिखारी मत बन जाना कि दूसरे से ही मांगते चले जाओ वो दूसरे से मिला हुआ भी तुम्हें अपनी ही खोज पर ले जाए और ये तभी होगा जब तुम दूसरे से कोई संबंध नहीं बनाते हो धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाते हो